बेशक जो लोग ईमान लाए और नेक अमल किए उनके लिए ऐसे बागात हैं जिनके नीचे नहरें बहती हैं यह है बहुत बड़ी कामयाबी